देते हैं पहली बता सकते हैं घोड़े कहते हैं अजर अमर अति सुंदर चंचल चार को बताए थे उनमें अजर अमर भी था घोड़े तो ऐसे है नहीं कि रावण मारा मर जाएंगे वो रावण के घोड़े जैसे थोड़े हैं भगवान ने पार मारा तो घोड़े मर गए और उनका सारथी मर गया और रथ टूट गया ऐसा रथ तो थोड़े हो पाता रावण मारता है घोड़े के लगे जरूर सूल घायल हो जाते हैं घोड़े गिर पड़ते हैं घोड़े लेकिन मरते मारते नहीं भगवान ने क्या किया तुरंत कि तुरंत उठाए को विरगनायत भगवान ने पूर्व को उठा लिया भगवान ने जहाँ हाथ फेरा गुणों के ऊपर था बोले प्रशक्तिशाली हो गया रावण के देखते देखते रावण ने देखा कि हमारे सूर लगे घोड़े गिरे भगवान राम ने उठाया और चलने लगे अब घोड़े अब रावण का मनोरथ बेकार हो गया रावण का उद्यम जो ये था कि हम घोड़ों को मार करा देंगे वो मरे मर उससे मारे मरे नहीं घोड़े उद्यम उसका निष्फल हो गया खाए को रघुनायक और खैत सरासन सरासन छाड़े सायक और भगवान ने फिर उसके ऊपर रावण के ऊपर पान चलाना शुरू किया अब देखो एक लीला और होती है भगवान पान चलाते हैं तो क्या होता है रावण सिर सरोज बनचारी अब देखो रावण के सिर जो है वो दस दस सिर है और वो मानव कमल का बन है और चल रघुवीर सलीम मुखधारी और भगवान राम के जो बाण है वो मानो भवरों की तरह से भवर जैसे कमलों के ऊपर भवर मटरा रहे हो तैसे रावण के दसों शरीर के ऊपर भगवान के बाण मटराते ही रहते हैं मैंने वो बाण आकर के छिपते रहते हैं बार बार शरीर में आकर के छिपते रहते हैं जैसे कि भवन उड़ के आते कमल के ऊपर बैठ जाए उड़े तो कमल के ऊपर बैठ जाए तैसे भगवान के बाण आते हैं और उसके शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं आते हैं शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं लग जाते हैं तो इस प्रकार से बाणों का भगवान के बाणों का रावण के सिर में लगना भवनों को कमल के ऊपर मटराना बैठना उड़ना जैसा दिखाई दिया अब देखो तुलसीदास कविता करेंगे तो उनको कहा युद्ध हो रहा कहा कमल बना गया और कहा घोड़े आ गए हम्म। ये सब दिखाई दे देना इस तरह से <clears throat> माने कहने का तात्पर्य कि उनके रावण के सिर के चारों तरफ भगवान के इतने बाढ़ भगवान ने छोड़े कि उसके सिर में बाढ़ मारे रावण के दस सिर और दसों सिरों में भगवान ने दस दस बाण मारे एक एक सिर में दस बाण और निसर गए चले रुद्र बनारे पहले दो बाण सिर में लगे और लग करके निसर गए मन पार आपार हो गए आर पार हो गए तो उसमें बाण उसमें सिर में घाव हो गया और खून बहने लगा पहली बात तो खून बहता रावण ने देखा कि हमारे शरीर समुद्र सौ शरीर में खून बह रहा है तो अपने खून देख करके रावण को फिर क्रोध हुआ और भगवान के ऊपर आक्रमण करने के लिए और तेजी से दौड़ पड़ा और प्रभु को धनुषर संधाना और जैसे वो दौड़ा उनके मारने के लिए तो भगवान ने फिर अपना धन संधाना धनुष को फिर चढ़ाया खींचा धनुष को फिर वहां और छोड़े उन्होंने तीस तीर रघुवीर को मारे अब की बार भगवान ने तीस मार मारे तीस वहां क्या है दस सिर है और बीस भुजाए तो सिरों में भी लगे हैं भुजाओं में रावण जैसे अपने अस्त्र को छोड़े जा रहा है तो बाहे भगवान ने सोचा कि बाहे काट दो और फिर अस्त्र चलाना बंद कर नहीं मारता तो बाहों में बाढ़ मारे तो बाहें कट गई सिरों में बाढ़ मारे सिर कट गए भोजन समेत सी समय पारे तो मैंने भुजाएं कट करके भूम करके पड़ी और सिर कट करके गिर पड़े बात समझते तो मरने लगा ऐसे मरने वाला कौन है आगे क्या कहते हैं घाटत ही पुन भय ने जैसे भुजाएं कट गई और सिर कट गए जो कट गए सो कट गए उसमें फिर नहीं निकल आए जैसे पेड़ की डाल आप काट दो उसमें शायद फिर नहीं निकल आए कलम कर दी जाती है पेड़ से बड़े पेड़ हो गए कलम कर दी छूट छूट रह गए अब देखा थोड़े दिन में अंदर फिर उसकी डाल निकल आए काटते तो नई शाखाएं नए डाले पत्ती पर उसमें नई हरी निकल जाती ऐसे उसके सिर भी निकल जाए दस और उसके प्रति बीस बुझाए भी उसके निकल जाए काटत काटत ही पुनभये नवीने राम बहोर भुजा कर छीने ठीक फिर निकल जाए तो भगवान ने फिर तीस बार मार दिए फिर तीस दसों से कट गए बीसों बुझाएं कट गए तो कट भी तो क्या होता है उनके फिर निकल आए बाहु सिर है इस प्रकार से अनेक बार भगवान ने बाण छोड़े बार बार उसके सिर कट जाते हैं बार बार नई नई बुझाई निकल आती है और कटक छटित पुनः नूतन भय कटक जैसे कटते हैं छटित मन मतलब तुरंत हम्म। पुन पुनः नूतन भय नहीं निकल आते नया सिर भी निकला है दसों सिर नहीं निकला है दसों बुझाए नहीं निकला इस प्रकार से रावण के सिर बुझाएं कटती जाती नहीं निकलते आते बात अब ये सब बात है ये कहने के लिए बच्चों को खेल मात्र कहानी नहीं है कि बच्चे बच्चों के लिए कहानी सुनाते रहो कि सर कट गए फिर निकल आए सर कट गए सुनने वाले सुने है बढ़िया चंदे की बातें कैसे कट गए कहीं निकल आए अरे ये अज्ञात विद्या है इसको देखो ये मोह विद्या इसकी लीला ऐसे ही है इसको आप जितना जितना इसको समाप्त करने की कोशिश करो नहीं निकलती आती इसके दोष दुर्गो जो इसमें जो है ये काम क्रोधा जितने विकार हैं अहंकार आदि हैं जिनमें अज्ञान अविद्या आदि है देहाभिमान आदि है इनको आप काटते रहो ये फिर निकल आएंगे फिर काटते रहो फिर निकल आएंगे बार बार काटते रहो निकलते हैं लेकिन इसके माने ये नहीं कि निराश हो जाओ हाँ? अगर आप बार बार अपने अहंकार को दूर करने की कोशिश करते हैं दूर नहीं होता फिर पैदा हो जाता है फिर अपना सिर उठा देता है तो इसके माने ये नहीं कि आप अपने अहंकार को दूर करने के लिए निराश हो जाए कि वो दूर नहीं होता वो तो असंभव है दूर नहीं हो सकता और बैठ जाओ चुपचाप ये नहीं आप कुछ लगे रहो उसी में बार बार बार बार प्रयास करते रहो निराश मत तब ये पुनि पुनि पुनि प्रभु काट शीशा बार बार भगवान उसकी बजाय काट देते हैं सिर काट देते हैं और अति कौतुकी कौशला शीशा भगवान का ये कौतुक है तो देखो सिर काट लिए माया काट लिए और देखा तो निकल आए तो एक तमाशा कैसे निकल आते हैं फिर काट लिए फिर वो अंदर से तो निकल आए फिर बाहर निकल आए तो आप क्या अच्छा तमाशा है जैसे भगवान ये खेल खेल रहे देख रहे तमाशा फिर काटो फिर निकल रहे रहे छाए नव श्री अनुबाहू भगवान ने ऐसे किया तो बाण क्या करते थे कि बाण ने सिर काटा भुजाएं को काटी उसको जो भुजाएं काटी तो ये सब भुजाएं सहित और सिर सहित बाण ने <clears throat> सूर्य चंद्रमा ने जल्दी बता दिया तो भगवान कृष्ण ने अपना चक्र मार दिया तो चक्र मार दिया तो अमृत तो पहले उसने पी लिया तो बाद में लगा चक्र तो उसके बाद फिर अलग हो गया थोड़ा अलग हो गया पहले एक निशा करता था दो हो गए थोड़ा हाँ, अलग हो गया तीन दो अलग हो गया एक की दो हो गए घटे जोड़े उनकी और संख्या पड़े तो ऐसे कहते हैं कि ये राव के जो वो उसकी तरह से जो वो आकाश में बुझाए और सिर आश्रम मर रहा रहे सज्जन राव के जो अनेक नवपत सर्वत सोनित धावही ऐसा लगता है जैसे आकाश में कितने नरेन कितने राव के आकाश में मरा रहे हैं और उनके सबके थर्रे तक मैंने उसमें सबके खून बह रहा है सिर्फ नहीं है कटे हुए आने नहीं है उनसे खून भी टपक रहा है और वे सब आकाश मोड़ रहे हैं रघुवीर तीर प्रचंड लाने भूम गिरन न पावनी भगवान के बाण इतने प्रचंड है जो आसमान में उड़ते रहते हैं तीर ये उनके सिरों को और वो जमीन में गिरते नहीं हनुमान मुक्त एक एक सिर सिर निकट छेदे नव उड़त इन सो रही अब जब वो आसमान में इस प्रकार से बाण तमाम बहुत से सिर उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे बाहें उड़ रही थी बाणों में छिड़ी हुई तो भगवान ने उन उन सिरों में फिर बाण मारे उड़ते हुए सिरों में हाँ? उनमें जब बाण मारे तब एक बाण के साथ और दूसरे बाण दूसरे के बाद दूसरे बाण और वे सब जितने सिर थे आकाश के उड़ते हुए मारे मारे बाणों के माला बन गई सर मालिका ऐसे तैयार तो ऐसे कैसे हो गया जन को भी दिन कर कर निकर जहां तहां भी सुंदो को आई ऐसा हो गया कि जैसे जो है वो को भी दिन कर कर निकल जैसे सूर्य की जो किरणें हैं उन्होंने विकुंडुल को निशाचरों को प्रातः काल के उनको उन्होंने वेद दिया अब देखो यहाँ पर दिगंबर जो है वो तो सिर और बाहे की तरह से भगवान राम जो है वो दिनकर की तरह से भगवान के बाण जो है सूर्य की किरणों की तरह से है इस प्रकार से उन्होंने इस प्रकार जैसे प्रातः काल सूर्योदय हो और सूर्य की किरण चारों तरफ फैले तो जो विदंधु साक्षर है उनको सबको सूर्य की किरणें जैसे सबको भेद दें इस प्रकार के <coughs> तो जिम जिम प्रभु भगवान ने उसके सिरों को इस प्रकार से काटा सिर तिमित महोकार कहने के तात्पर्य कि उसके सिर इस प्रकार से बार बार उत्पन्न होते रहते हैं बढ़ते रहते हैं और आकाश में भी तमाम सिर उड़ रहे हैं तमाम भुजाएं उड़ रही हैं चारों तरफ इस प्रकार के सिद्ध हो तो सेवत विषय जगत जिम नित नित नूतन मार अब देखो ये उदाहरण इतना विस्तृत वर्णन इसलिए किया कि जिससे कि ये सब सेवक विषय जैसे विषयों का सेवन करने से क्या होता है विवर्त हम्म, विवर्त के माने वो बढ़ते जाते हैं नित्य नित्य नूतन नए नए बढ़ते जाते हैं मार्ग मैंने कामना विवर्त विवर्त मार्ग विवर्त सेवत विषय विषयों का सेवन करने से जैसे कामनाएं नित्य नित्य बढ़ती जाती हैं मार्ग मन कामना हम्म, और विषय जो विषयों की जो कामना है जब कामना होती है तो कामना किसकी विषयों की कामना और अगर विषयों को विषय प्राप्त हुए और उनका विषयों का भोग भोगा सेवन किया तो कामनाएं उन विषयों की हम सब समाप्त नहीं होती नई नई भर्ती चली जाती है नित्य नई नई बढ़ती जाती है नित्य मैंने पुरानी जो जो कामना थी वो तो चलो पूरी हो गई भोग करके तो नई कामना हो रहा उसकी भी पूर्ति होगी तो और नई कामना आ उसकी पूर्ति होगी तो और नई कामना आ इस प्रकार से नित्य नई नई कामनाएं आती रहती है ये प्रसार होती इस प्रकार से <clears throat> सेवत विषय विवर्त जिम निधिलित नूतन मार इसमें जो है अन्य शास्त्रों में कई संस्कृत वाले ग्रंथों में इस प्रकार से अग्नि का उदाहरण दिया कि जैसे अग्नि में घी की आहुति दो तो जैसे आहुति देने से घी आदमी के ऊपर घी फेंकने से डालने से बुझती नहीं है पानी डाल दो तो बुझ जाए लेकिन पानी की बजाय तो घी डाल जाए बुझाने के लिए तो कोई उससे घी से आग बुझ थोड़े जाएगी वो तो घी से तो आग और प्रचंड होगी तो जैसे घी डालने से अग्नि प्रचंड होती है ऐसे विषयों के सेवन करने से कामनाएं और और बढ़ती जाती है और कामनाएं कोई कई कामनाएं बढ़ जाती है तो बहुत अच्छी बात है तो ये अच्छी बात है कामनाएं जितनी बढ़ती जाती है उतनी सुखदायी है वो सब पीड़ा पहुंचाने वाली कई चिंता के लिए शादी देने वाले मन में अशांति करने वाले जैसे तो जैसे कामनाएं बढ़ती जाती है जीवन के क्लेश दुख वैसे वैसे बढ़ते चले जाएंगे इसलिए इन कामनाओं से बचे कामनाओं से बचने का तरीका क्या है कि इन विषयों का सेवन त्याग करें जो काम्य पदार्थ जो कामना से प्राप्त होने वाले विषय हैं उनका भोग करके सुखी होने की प्रवृत्ति जो है उसका त्याग दें पहले कामना की और काम पदार्थ मिल गया मिला तो कहा कैसा सुख आ गया क्या आनंद आ गया ऐसी जो भावना व्यक्ति की है वो फिर नई कामना उत्पन्न करती अगर विषय प्राप्त हुए या तो उनका सेवन न करे और सेवन भी करे तो उनको ये समझे कि जीवन की आवश्यकता के लिए उनका भरम प्रयोग कर रहे हैं और ये कोई सुखदायी नहीं है इनके भीतर तो विष भरा हुआ है यही संस्पर्श जाप होगा दुख ये नहीं ये सुखदायी नहीं है दुख ही होने होते सब दुख के भंडार हैं उनमें दुख ही भरा हुआ है तो दुख के भाव से उनका सेवन करें दुख देने वाले विषयों का सेवन सुख देने वाले विषयों का सेवन नहीं अज्ञानी व्यक्ति समझते हैं कि विषय हमें प्राप्त हो रहे हैं और सुख दे रहे हैं ज्ञानी व्यक्ति के आंतरिक ऐसी दृष्टि जागृत हो जाती है उसे दिखाई देता है कि जिन विषयों का हम सेवन कर रहे हैं ये सुख देने वाले नहीं है ये तो दुख देने वाले हैं जहाँ दुख देने वाले उसके समझ में आ गया कहा उसके बाद में इसके माने फिर वो विषयों का सेवन नहीं करता है करेगा नहीं एक तो उनका भोग भोगेगा नहीं और भोगेगा भी तो उनको जीवन की आवश्यकता के लिए जरूरत पर करके तो वो विषय करके न रह जाएंगे एक नेसेसिटी जीवन की मात्र रह जाएगी बस नेसेसिटी अलग बात है और भोग विषयों का भोगना दूसरी बात है ये सब बात बार बार इतना विवेक के द्वारा समझना चाहिए इसलिए कंफ्यूजन न करें शास्त्र जैसा बताते हैं उस प्रकार से साफ साफ बात को समझे और समझ करके उसी प्रकार से अभ्यास करें विषय जो है ये इंद्रियों के विषय ये सब स्पर्श रूप रसगंध पांच इंद्रिया पांच विषय इन विषयों का इंद्रियों में जब अनुकूल समझ करके सुखदायी मान करके इनकी कामना करके भोगता है तो वो विषय कहलाते हैं और यही विषय जो है ये है नेत्रों से प्राप्त होकर के मन बुद्धि के प्राप्त होते हैं और जीवन की यात्रा चलाने के लिए भी इनकी आवश्यकता है जीवन की यात्रा चलती है जीवन क्या है यात्रा है ये भी चलती रहे कैसे चलती रहे आंखों से दिखाई देता है तब तो चलेंगे हाँ, कानों से सुनाई दे तब तो चलेंगे सब इंद्रियों की जाए इनके सबको देखेंगे सुनेंगे सब करेंगे ऐसे जो जीवन की यात्रा चलती है वो विषय नहीं है यही एक अवस्था में ये शब्द स्पर्श रूप विषय है और एक अवस्था में विषय नहीं है जब व्यक्ति इनको सुखदायी मान करके भोगता है तब तो विषय है जब जीवन के लिए उपयोगी मात्र मान करके समझ कर चलता है सुखदायी नहीं मानता दुखदायी मान करके चलता है तो फिर उनके विषय की विषयता नहीं रहती है उन विषयों का विष समाप्त हो गया विषयों में विष है और विष कब तक है जब तक हम सुखदायी मानते हैं और जब उनको ये पता लगा सुखदायी नहीं दुखदायी है तो सावधान हो गए उनसे सावधान हो गए तो उनका विष समाप्त हो गया सर्प तब तक भयंकर है जब तक उसके दांत में विष है और दांत का विष निकाल दिया तो सत्य से फिर क्या डर है खेलते रहो फिर फट्टे सत्य लेकर घूमते रहते हैं उनको विष नहीं डालता हूँ तो फिर आप खेलते रहो तो उसको गले गली में लेटे रहो कुछ भी करे रहो फिर कुछ थोड़ी बिगाड़ सकते हैं इस प्रकार से अगर विषयों में विष न हो तो स्वरूप का कोई हानि उनसे नहीं लेकिन जब उनको सुखदायी समझते हैं तो उनको विष आ जाता है और फिर दुख देने लगते हैं तो बस जो इस प्रकार के इन विषयों का सेवन करता रहता है उसकी कामनाएं बढ़ती रहती है और कर्म के बंधन पुनर्जन्म का चक्र नाना प्रकार के दुख उनकी सबकी जड़ यही है यही से सब दुख ये और नहीं होते नाना प्रकार के जितने भी जीवन की विपत्तियां हैं उन सबकी जड़ यही है बात छोटी ही लेकिन उसका परिणाम बहुत भारी है इस प्रकार से उनको उसका बता दिया कि देखो रावण किस प्रकार से सिर और भुजाएं ऐसे बढ़ते हैं जैसे व्यक्ति की अज्ञानी व्यक्ति की विषयी व्यक्ति की कामनाएं वासनाएं बढ़ती रहती है ऐसे बढ़ रहे हैं तो मैंने ये सब के सब रावण जो वो खल भी है परद्रोही भी है कामनाओं में आसक्त भी है विषासक्त भी है तो इसी का प्रतीक है रावण वही सब इस प्रकार के उदाहरण दे दे करके बीच बीच में बताते रहते हैं माने ये सब जो है हमारे युद्ध में अपने आंतरिक आध्यात्मिक जगत में जो सेवा से संग्राम चल रहा है उसमें असुर वृत्ति क्या है उसको पहचाना खलता है प्रद्रोह है विषयों की कामना है यही जो है जो वो निशाचर है और उसको उनके ऊपर विजय प्राप्त करने के माने परमात्मा भाव में स्थित रहना निर्विकार रहना शांत रहना सबसे से प्रेम भाव रखना ये सब जो है सदगुण है दैवी संपत्तियां हैं ये शक्तिशाली होनी चाहिए ये बढ़नी चाहिए सब आध्यात्मिक साधना है नान्या स्पृहा रघुपते हृदय वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिम् प्रयच्छररूपम् गवनिर्भराम् मे कामादिदोषरस्तम् कुरु मानसम् च जय राम जय जय